बाबा उसका तिलक विलक दिखता है भला छोटी वो दिखती है छोटी वो दिखेगी कुछ चंदन मंदन दिखेगा कुछ गेरुआ दंड दिखेगा दिखेगा कहा आपने ब्राह्मण आंख से देखा है क्षत्रिय आंख से देखा है दूसरा ये सिद्धांत बिंदु में दशरथ शंकराचार्य की दशरथ श्लोकी पर और सुदन सरस्वती की व्याख्या है उसका नाम है सिद्धांत बिंदु व्याख्या करना अभी तो ईश्वर कृपा से शंकराचार्य और उनके समुदाय के अनुयायियों में जितने प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ हैं और उनके प्रकाशन का संकल्प किया है हमारे महात्माओं ने उसमें ये छप गया सिद्धांत सिद्धांत में कोई छप नहीं उपदेश भास्कर छप गया सिद्धांत में कोई छप नहीं ब्राह्मण कहाँ है प्रत्यक्ष है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अच्छा ब्रह्मचारी प्रत्यक्ष है अरे भाई वो पीला कपड़ा पहनता है रात में दंडवंड रखता है ब्रह्मचारी है तो, <laughs> तो कपड़ा प्रत्यक्ष है कि लकड़ी प्रत्यक्ष है, कि योगी प्रत्यक्ष है इसमें ब्रह्मचारी प्रत्यक्ष कहाँ है हाँ। बड़ा धोखा बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा वो बड़ा छोटा प्रत्यक्ष है बड़ा छोटा प्रत्यक्ष है बड़ा तगड़ा प्रत्यक्ष है ब्राह्मण प्रत्यक्ष का देह देह प्रत्यक्ष होता है उसमें ब्राह्मण को क्षत्रिय को प्रत्यक्ष नहीं होता नक्तों से हो वर्णों को नहीं तो किसी की शकल देखने हम पहचान है आवाज तक तो ब्राह्मण भी छोटी नहीं रखते हैं ब्राह्मण भी जगह नहीं पहनते हम पहनते हैं तो कैसे पहचानोगे उनको भी संध्या बंधन नहीं करना था हम करने जानते वो भी वेद मंत्र नहीं बोलेंगे हाँ। और चंदाल लोग जो है वो मंत्र बोल सकते हैं लोग बोलते हैं अब पहचानो कौन है वो बड़ी पूजा पत्री तो करेंगे क्योंकि तो, तो नए नए आते हैं कैसे पहचानोगे तो ये विपराधी पर न शरीर में है न आत्मा में है और ब्रह्मचर्या की आश्रम न शरीर में है न आत्मा न क्यों को करा जो प्राचीन वर्ण भी को अक्षगोचर नहीं है और आत्मा भी अक्षगोचर नहीं है इंद्रियों का विषय नहीं है असंगो निराकारो जब है विश्व साक्षी सुखी भव विश्व साक्षी सुखी भव असंगो से निराकारो दूसरे के साथ को तुम्हारा संग नहीं न कोई संग आया न कोई संग जाता है देह कोई संग नहीं तो मानसान ने धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसान देखो मन में जितनी चीज होती है वो बाहर से ढूंसी हुई होती है ये बात आप नोट कर लो मन में जितनी धारणाएं जितनी कल्पनाएं होती हैं ये बपतिस्मा करके सारी पदार्थ पूछते हैं हमारे हमारे मन में और खतना करके मुस्लाम मुसलमान पदार्थ पूछते हैं हमारे मन में और गर्भाधान आदि से लेके अंत्येष्टि संस्कार करके युजस्व ठूसते हैं हमारे मन में ये मन में बड़ी हुई चीज है मानकानी न तेजी हो हम प्रकृति का कानून जानते हैं हम ईश्वर का कानून जानते हैं ईश्वर को ईश्वर का एक ही काम है केवल चाहे कोई ईमानदार हो बेईमान हो चोर हो चमार हो अनाचारी हो भ्रष्टाचारी हो जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना ईश्वर का काम बस और सृष्टि में जो हो रहा है वो प्रकृति का काम ये प्रकृति का कानून अलग होता है ईश्वर का कानून अलग होता है और दो लाख कानून बदलते रहते हैं और ये जो सत्य वस्तु है यथार्थ है जिसकी महिमा दूसरी है वो बात दूसरी है असंतोष निराकारो न तुम्हारी किसी के साथ आ सकती है और न तो तुमने कोई आकार है बाहर का संबंध काटने के लिए असंगता और शरीर में आसक्ति काटने के लिए निराकार और तुम देहोपाधिक परिचन्न नहीं हो विश्वदात्री श्रुति है अभी रिश्ता मानोगे अपना मानोगे अपना मानोगे सुखी हो जाए जिसके सौ रिश्तेदार हैं उसके घर में रोज ज्ञान दादी रहती है रोज बातक सुखी देते हैं उसको ईश्वर के बारे में जो बाहर की समस्याओं को सुलझाने में लग गया वो अपने आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता हो तुम पैसे की समस्या सुलझाओगे रिश्तेदारों की समस्या सुलझाओगे सरपंच बनोगे या अपने आप को सुलझाओगे इसी से किसी में शांति चाहिए वैराग्य चाहिए विवेक चाहिए शांति इसका मतलब उपरती प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान पटाखा बड़ा खाने के लिए खतौली जाने का अरे महाराज एक दिन वो ज्वार का क्या बनता है खाने का तो हाँ हाँ तो हमदाबाद से सूरत आते हैं खाने के लिए अब तुम्हें पटाखा बड़ा तो मिल जाएगा लेकिन ये कहो कि मैं कौन हूँ ये तुमको सूझ जाए तो बिल्कुल खन मन तो अपने को सोचने के लिए शांति का वो बरती समाधान

जैसे बेटा लेते हैं गोद का दूसरे का बेटा होता है ना उसका माँ बाप दूसरा और उसको गोद ले लेते हैं तो ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ आत्मा हूँ आपके ध्यान में ये बात आती है ना ये जो माता पिता बना है ये अधिकारों के थे ही नहीं है ये बात तो आपकी समझ में आई जाएगी वो जो बेटापना है गोद लिए हुए बेटे में जो बेटापना है तो वो भी के है अभिमाने ऊपर संस्कृत में अभिमाने ऊपर और आरोप माने थोपा हुआ एक के ऊपर जहां दूसरा थोप दिया जाता है उसको अध्यारोप करते हैं अब वो बेटे से पूछेंगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है तो जिसका गोद है ना उसका नाम बताओ तो कानूनी बाप हुआ तो नहीं बाप से पूछेंगे ये तुम्हारा कौन है का बेटा तो वो कानूनी बेटा है अब इसमें असली संबंध नहीं है हाँ अदालत में मुकदमा जाएगा तो ठीक है एक बहुत मामूली बात आपको सुनाता था एक माता जी हमारे संपर्क में बहुत थे बोला कई बेटे तो वो अपने बेटे को और बेटी को और बेटा बेटी के बच्चों को तो अपना खून मानती थी हो कि अपने खून और जो बहुएं घर में आई थी ना उनको अपना खून नहीं मानती कभी उनको कोई वरदान दे गया कि तुम्हारे खून से जो पैदा हुआ है वो तुम्हारे सामने कभी मरेगा नहीं अब अपने वंश में समझो वंश तो बड़ा हो गया और वृद्ध हो गए थे कोई मरा नहीं था एक बच्चा कोई मर गया एक ही मरा उनके जीवन काल में एक ही मरा तो वो कहती थी ही कि ये जो बच्चा था ये हमारे खून का नहीं था ये बहू कहीं और से ले आई होगी बाद <coughs> ये आप लोगों को दुनियादारी की बात सुनाते हैं तो आप देखो किसका संबंधी है सबसे बड़ा संबंध दुनिया में पति पत्नी का माना जाता है इससे ज्यादा संबंध और पति के लिए पत्नी सती हो जाती है और पत्नी की रक्षा के लिए पति अपने प्राणों की बाजी लगा देता है संसार में पति पत्नी से घनिष्ठ दूसरा कोई संबंध नहीं होता है और पत्नी जो पति को जो सुख दे सकती है वो सुख दुनिया में और कोई नहीं दे सकती लेकिन आप जानते हैं ये संबंध बनाया जाता है सुदेश में रजिस्ट्री करा के बनाया जाता है और यहाँ अग्नि में होम करके संस्कार से बनाया जाता है ये पति अध्यारोपित है ये पत्नी अध्यारोपित है संस्कार के द्वारा अध्यारोपित है हम वेदांत समझाने के लिए बात कहते हैं गर्भ व्यक्ति की बात आपको तो नहीं सुना रहे हैं कितना घनिष्ठ संबंध मन बनाता है क्या जन्म से दोनों एक माँ के पेट से निकले हैं एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए हैं क्या बचपन में दोनों एक दूसरे को जानते थे देखो मन से मन मिला मन से मन मिला मन में बैठा दिया गया ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये बैठाई हुई बात इतनी गाढ़ी इतनी गाढ़ी हो जाती है इसी को बोलते हैं अध्यारोप और अध्यास कितना बड़ा होता है कितना बड़ा अध्यास इसमें होता है कि अब तक दुनिया में कितने कतल कितने खून खराबे कितना सतीपना सब इसी में से निकला है ये है मान्यता की गाढ़ता ये है अध्यास की अध्यास की गाढ़ता अभी थोड़े दिन हुआ अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ थोड़े दिन में हम समझते हैं महीने भर के भीतर की ही बात है तो अस्पताल में एक ट्यूब पड़ी थी वो बच्चे को की सफाई सफाई पैदा होने पर सफाई सफाई होती है ना तो वो करने में थोड़ी देर लग जाएगी <laughs> एक स्त्री आई हाँ, बोली मैं अस्पताल में ही रहती हूँ और मैं अभी करके सफाई जल्दी से जल्दी सप्लाप करके ला देती हूँ हमारा बच्चे को ले गई फिर लौट के आई नहीं ले गई बच्चे कोई हो रही अब मान लो वो बच्चा उसके घर में बड़ा होगा तो वो वैश्य माता से पैदा हुआ है जब ब्राह्मण के घर में जाएगा तो अपने को ब्राह्मण मानेगा उसके जब जो कविता जो संस्कार होंगे संध्या बंधन करें ये जो कुछ करें और अपना माँ बाप किसको मानेगा इसी को बोलते हैं अभ्यास हो गया हो अभ्यास हो जाएगा कि हमारे अमुक माँ बाप हैं हमारी अमुक जाति है, है? और हम अमुक से पैदा हुए हैं ये बात मन में बैठे लेकिन ये बात यहीं तक नहीं है वो किसी बच्चे से पूछो कि तुम माँ के बेटे हो इस बाप तो होशियार होगा तो कहेगा दोनों हाँ मैं कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ कि तुमसे कौन ज्यादा प्रेम करता है तुम्हारी माँ कि तुम्हारे पिता की तो जब माँ अकेली होती है तब तो कहते हैं माँ और बाप अकेला होता है तो कहते हैं बाप और दोनों होते हैं तो बोलते हैं दोनों ऐसे होशियार होते हैं महाराज ये है पेट में से अकल लेके आते हैं तो शास्त्र के अनुसार बच्चा जो होता है वो पिता का होता है माता है खेत और उसमें जो अन्न बोया जाता है तो बीजी जो किसान खेती करने वाला होता है बीर्ज से ही संतान की उत्पत्ति होती है रज से नहीं रज केवल पोषण करने के लिए होता है देखो एक तो यहाँ काट अच्छा अब दूसरी बात पिता कहाँ से लाता है तो वो जो खाता है पीता है शरीर में रक्त बनता है रक्त से वीर्ज बनता है और समझो एक आदमी के शरीर में एक लाख बच्चा पैदा करने से ज्यादा वीर जो होता है वो एक, एक आदमी के शरीर में एक एक जो कण होते हैं वीर के उनमें जो एक एक कीटाणु होते हैं ना उन कीटाणुओं में पुत्र बनने का सामर्थ्य होता है तो लाखों बेटा बनाने की ताकत तो जाती है व्यर्थ दो पांच दस हमारे पास ऐसे सज्जन आते हैं जो बताते हैं ये हमारी बीस नंबर की लड़की है ये बाईस नंबर का बेटा है लेकिन कितना व्यर्थ जाता है ये सिर्फ उसमें से कितने मरते हैं वीर के कम और शरीर में कितने आते हैं कितने व्यर्थ जाते हैं अच्छा वो आया कहाँ से है बोले वो गेहूं में से आया है कि चने में से आया है कि अंगूर में से आया है कि शराब में से आया है कि मांस में से आया है तो फिर मांस में भी कहाँ से आया वो भी एक बात है मांस में भी कहाँ से आया शराब में से कहाँ से आया ये महाराज इसी से हमारे वेदांति लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि जो है वो अध्यास से चल रही है अध्यास ये वेदांत का शब्द है वो अध्यास अध्यास माने यदि मोटा मोटी बोले ना अध्यास का तो उसका अर्थ होता है भ्रम अध्यास का मोटा मोटी अर्थ है भ्रम अतस्मिन तदबुद्धि ही अभ्यासा जो जो चीज नहीं है उसको वो चीज मान बैठना देखो भाई ये गृहस्थों की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं बोला हम वेदांत का सत्य का निरूपण करने के लिए बोल रहे हैं एक बार यथार्थ की ओर देखो नंगा करके देखो इस दुनिया को कपड़े के नीचे क्या है इसका नाम होता है अभ्यास जो चीज जो नहीं है उसको वो चीज मानना बुद्धि में भ्रम पैदा होना अध्यस्यते अन्य अन्यस्मिन दूसरी चीज दूसरे में अभ्यस्त हो जाती है जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेते हैं जो मैं नहीं है उसको मैं मान लेते हैं बाबू वेदांत की माया अरे हक के पैर गया क्या पूछना बन गए क्या हो रहे हैं ब्रह्म हो रहे हैं छाती शरीर तो भले छाती ब्रह्म हो रहे छाती ताक तो के कोई ब्रह्म नहीं होता शरीर को नंगा रख के कोई ब्रह्म नहीं होता तो दया विवाद दया विवाद होगा तो मैं देख मेरे बराबर होता अरे हीरा मेरा है मोती मेरा है ये भी अभ्यास है वो ये ब्रह्म है ये नोट का बंडल ले रहा है का ये ब्रह्म है घर का मेरा है तुम जब जन्मे नहीं थे तो इसमें कौन रहता था तो दूसरा किराएदार था तो दूसरा मालिक नहीं तो हमारे बाप दादा रहते थे उसके पहले का उनके बाप दादा रहते थे अब तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा तो बेटा पोता नाती रहेगा तो घर है मेरा तो सराय है, हजार आते हैं हजार जाते हैं बड़ा घर वाला बना कंकड़ तुम तो माल बनाया लोग कहें घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा अंतर रहे वैसे इसी का नाम अध्यास है हम केवल वेदांत में जिसको अध्यास या अध्यारोप या भ्रम बोलते हैं उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए आपको ये बात बोलते हैं भला आप ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं पति हैं पत्नी हैं माँ हैं बेटे हैं आप अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक ठीक रखिए लेकिन यदि इस सत्य को समझेंगे तो आपके दिमाग पर बोझ नहीं रहेगा बिल्कुल निर्धार हो जाएंगे निर्भार निर्भर निर्भार तो अपनत्वम विप्रादिको नरणो नाश्रमी नाक्षर सन्यासी है तो तब हमको ये करना है ये ऐसे रहना ऐसे रहना ऐसे रहना तो बाबा जी सन्यासी आप कब से हुए तारीख नोट रखिए डायरी में हो अमुक सन में अमुक महीने में अमुक तारीख को अमुक टाइम पर अमुक गुरु जी से है हमको सन्यास की दीक्षा मिली तब से मैं सन्यासी हूँ पहले तो सन्यासी नहीं थे सन्यासी बने का अभिमान एक दिन धारण किया था कहाँ से आया था गृहस्थत्व के संस्कार की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मचारित्व गृहस्थत्व वानप्रस्थत्व के संस्कार की निवृत्ति पूर्वक अपने में सन्यासित्व का संस्कार धारण किया गया था क्या इसका नाम हुआ अपने में सन्यासी बने का अध्याय हो बोला तुम सन्यासी नहीं हो तुम अपने को सन्यासी मान बैठे हो अब का गृहस्थ का तिरस्कार है सारे प्रेम ऐसे बोलते हैं विरक्त लोग ऐसे बोलते विरक्त लोग जो होते हैं ना विरक्त नहीं विरक्त विरक्त लोग गृहस्थ को गृहस्थ नहीं गिरस्थी बोलते हैं गिरस्थी और ये लोग क्या बोलते हैं वो भिख मंगे निकम में न कुछ कमाए न गमाए न कुछ काम न करता हम आपको वेदांत की बहुत रूढ़ बात सुना रहे हैं आप इसको हंसी खेल मत समझना ये मन में जाति का जब बच्चा पैदा होता है ना उसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं तो उसके मन में ये बात भरी जाती है कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो माँ बाप परिवार है लोग उसको तू ब्राह्मण है तू ब्राह्मण है तू ब्राह्मण है तेरा गर्भाधान संस्कार हुआ है पुंसवन हुआ है जात कर्म हुआ है नामकरण हुआ है चूड़ाकरण हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है वेदारंभ हुआ है उसके मन में भरा जाता है कि तुम ब्राह्मण हो और जहां अविच्छिन्न संस्कार परंपरा नहीं हो संस्कार ये बाप को भी हुआ हो दादा को भी हुआ हो परदादा को भी हुआ हो अविच्छिन्न संस्कार परंपरा जब होती है तब विगत्व की स्थापना होती है अब लोग तुम कहो न तम विप्रादिको वर्णो आश्रमी ये तो जैसे सन्यासी बना जैसे संस्कार से आया वैसे भूल बोल के भूल भूल के वर्ण संस्कार डाले गए वर्णनात् वर्णा वर्ण माने जो वर्णन से आवे हो हाँ, जो वर्णन से आवे उसका नाम वर्ण कर्मणा आश्रम ब्रह्मचर्य के पालन से आश्रम के पालन आश्रम कर्मणा आश्रम श्रमात श्रमात आश्रम वर्णनात् वर्णा हाँ, ये भोजराज ने ये विपत्ति जो है ये राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में दी पुरानी है दो हजार अच्छा, वर्णनाथ नत्वम विप्राग को वर्णो बात ये कही गई कि तुम अपने आत्मा में विश्राम करो चिति विश्रम में तिष्ट देह को कर दो अलग और तुम अपने स्वरूप में कल्पना कर लो हर्ष कर लो कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ मेरे सिवाय सब मिथ्या और अगुणय हूँ किसी समय सुखी शांत बंद मुक्त अभी हो कोई बंधन नहीं है तुम्हारे लिए न हीरा मोती का बंधन है न मकान का बंधन है न स्त्री पुत्र का बंधन है न धर्म कर्म का बंधन है अभी अभी अकर्ता अभोक्ता अद्वितीय अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म तुम बोले महाराज कर्म छोड़ देंगे तो कैसे बनेगा बोले कर्म किसका ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का ब्रह्मचारी का बानप्रस्थ का गृहस्थ का सन्यासी का किसका कर्म बोले महाराज देह जो है उसी का कर्म देह को तो अलग कर दिया भाई तो ये तो प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं प्रत्यक्ष नहीं है नाग से गुप्त ब्राह्मणत्व का कहीं प्रत्यक्ष हुआ है किसी को शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है हे भगवान ज्योति का नाम ब्राह्मण नहीं है जनेऊ का नाम ब्राह्मण नहीं है कहो कि नाक कान मुंह का नाम ब्राह्मण है तो नाक कान मुंह तो सूत्र के भी होते हैं मुसलमान के भी होते हैं ईसाई के भी होते हैं नाक्ष गोचरा तुम आंखों से दिखने वाले नहीं हो आंखों से माने इंद्रियों से अश्नुवंती व्यापनुवंती विषयेशु यदि अच्छा जो विषय से जाकर एक हो जाती हैं उनका नाम होता है अक्षर आठ रूप से एक शक्ति से अश्नुवंत अश्नुवत सब सबसे तो हम क्या है भाई तो बोले भाई देखो इतने तो अब तक हाँ, सिनेमा देखे हैं किसके पर्दे पर तुम चिपके बोलो तो असंगोषी हाँ। इतने सड़क पर चलते हुए इतने आदमी देखे किसके साथ चिपके इतनी आवाजें सुनी इतनी संगीत सुने तुम्हारा कान किसके साथ है असंगोषी किसी के साथ अपने ज्ञान का स्वभाव यही है वो वो नहीं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को रखो हिमालय में ज्ञान मात्र का स्वभाव है कि वो ज्ञेय के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता काला आवे लाल आवे पीला आवे आंख आंख ही रहेगी आंख मंदी हो अंधी हो तेज हो और ज्ञान एक ही रहे मन में रोना आवे हंसना आवे वो तो रोशनी है ज्ञान तो रोशनी है वो हंसना भी दिखा देगा रोना भी दिखा देगा हंसना रोना बदल जाएगा और ज्ञान एक ही रहेगा असंगो से है तुम्हारे शरीर के हजार मिले चले गए अपने होए होए मिटी गए रहो सार सार रह गया ज्ञान रह गया भी गई आई और गई संतरा आया और गया जिस रोशनी में भी दिखी उसी रोशनी में संतरा दिखा जिस रोशनी में उनका आना दिखा उसी रोशनी में उनका जाना दिखा वो रोशनी तो प्रसंगों से किसी के साथ तुम्हारा संगमन नहीं है मिलना जुलना नहीं है किसी के साथ ये तो कालका देवी रोड है ना ये तो चौपाटी है इस रोशनी में इस आत्मा की रोशनी में कितने लोग चिपक गया कोई हमारे साथ ये भ्रम हम किसी के साथ चिपक गए ये भ्रम है हम इनके बिना नहीं रह सकते ये भ्रम है भगवान न करे ऐसा हो है ना भगवान न करे ऐसा हो लेकिन जिसके लिए तुम सोचते हो कि इसके बिना हम जी नहीं सकते उसके न होने पर भी तुम रहोगे खाओगे पियोगे हाँ, फिर हंसोगे खेलोगे मौज करोगे फिर सिनेमा देखोगे फिर युवा खेलोगे फिर शराब पियोगे जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि इसके बिना हम जी नहीं सकते ये बात हम रोज दुनिया में देखते हैं देख के भी न समझें देख के भी न समझें तो बुद्धि पर बुद्धि पर पर्दा पड़ गया इसी पर्दा का नाम है माया इसी का नाम है अविद्या इसी का नाम है माया से निराकारो असंग आकाश में कितने बादल आए और गए आकाश असंग धरती कितनी बदली असंग पानी कितना बदला असंग गर्मी सर्दी कितनी बली बदली असन असंगो से निराकारो असल में तुम्हारी कोई सकल सूरत नहीं है अपने साथ उपाधि जोड़ के तुम सकल वाले बने हो कल एक हमारे पास चित्र लाया गया बिल्कुल काला पर्दा है एक ही है वो अब उसमें ऐसे ऐसे तार उसने चिपकाए हैं कि इतनी सुंदर सुंदर आकृति वो राधा जी का मुंह उसमें दिखता है सुंदर वो कृष्ण का मुंह दिखता है पर्दा का पर्दा ही है वो पर कुछ रंग नहीं लगाया हुआ रंग रोगन कुछ नहीं है केवल ऊपर से तार ऐसे ढंग से चिपका लिए गए हैं कि उस काले पर्दे में मालूम पड़ता है ये नाक है ये हो ये कपोल है ये बांसुरी है तो काले पर्दे में कहा से नाक कहा से कपोल कहाँ से मुंह कहा से आंख कहाँ से लता कहा से मुकुट कहा से बांसुरी काले पर्दे में कहा से आ गया उसको बोलते हैं वही जो तार चिपकाए हुए हैं ना उनको बोलेंगे संस्कृत भाषा में उपाध उप माने और आधार ऐसी चीज उसके साथ चिपका दी गई है कि वो सकल सूरत वाला मालूम पड़ता है उसमें न हाथ है काले पर्दे में क्या है न हाथ है न पांव है न कमर न पीताम्बर है न मुकुट है न बांसुरी है वो तो काला है नीरंग है वो और जब कोई रंग नहीं होता है तो काला मालूम पड़ता है और जब सब रंग मिल जाते हैं तो सफेद मालूम पड़ता है कोई रंग नहीं है उसमें सारा रंग उपाधि जैसे शीशे के पास पीछे लाल पर्दा कर दो दलाल मालूम पड़ने लगेगा ऐसे महाराज हमने अपने साथ ये हड्डी मांस चाम निष्ठा मूत्र लार की खो की एक उपाधि सता ली है कि मैं शरीर हूं इस उपाधि के कारण हमको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मालूम पड़ता है नहीं है बिना देह के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर कुछ नहीं बिना देह के पहले पीछे कुछ नहीं ये देह की उपाधि छिपकाई और ये सारी दुनिया मालूम पड़ने लगी मुंजत तोया जाती राजा भोज को जल्लादों के हाथ में सौंप दिया जब बच्चे थे जब पंद्रह बरस के उनके चाचा ने मुंज ने जल्लादों के हाथ में सौंप दिया कि बेटे को मार ला भतीजे को भतीजे को मार के ले आ भाई भाई में बहुत पड़ती है पर चाचा भतीजे में कम पड़ती है जब जल्लाद ले गए तो उसने कहा हम एक चिट्ठी लिखते रहे तो भोज ने चिट्ठी लिखी मान भाता से बनी राजा मान भाता हुए रावण हुआ हिरण कशिपु हुआ रघु हुए कोई अपने साथ धरती को लेकर नहीं गए चाचा जी अब ये धरती तुम्हारे साथ जाएगी जब स्वया जान से अरे जल्लाद ने पढ़ा अरे ये पंद्रह बरस का लड़का इतना बुद्धिमान बोले हम तुमको नहीं मारेंगे बेटा हाँ दूसरे का खून ले जाके दिखा दिया उनको और उसको पाल लिया फिर तो बाद में भोज ने जिंदा हुए राजा हुए जिंदा रहे राजा ये धरती तुम लेके जाओगे ये बड़े बड़े मुसलमान बादशाहों के साथ नहीं गई हिंदू राजाओं के साथ अब किसके साथ जाने वाले जिनके घर में चने और गेहूं के ढेर की तरह हीरे रखे रहते तख्ताने और उनमें हीरे मोती कैसे रखे जाते थे चने के ढेर की तरह उनको होटल चला के रोटी खानी पड़ती है हम अपने सामने की ही तो बात हो जब गलती तुम्हारे साथ जाएगी असल में ना तुम्हारा कोई है आसक्ति कहीं करने लायक नहीं है जिसको तुम अपना प्रेमी समझते हो उसका प्रेम सपने का प्रेम जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारा प्रेम मनोराज्य का प्रेम है सपने का प्रेम कुछ दम नहीं न किसी से तुम्हारी आसक्ति थी न है न हो आसक्ति भ्रम है वो ये जो ख्याल है कि ये आदमी हमसे प्रेम करता है वो भी भ्रम है और ये जो ख्याल है कि हम इससे प्रेम करते हैं वो भी भ्रम है कितनी बार हमको ऐसा भ्रम हुआ कि हमारा इससे प्रेम है और बाद में उड़ गया उड़ गया ऐसा उड़ गया याद नहीं आती बनारस गया था तो एक आदमी आया और उसके बाल बाल पक गए हैं भाई बड़ा बूढ़ा हो गया है बड़ी दाढ़ी उसने बताया कि मैं आपका मित्र हूं सबके मित्र हो तो, तो, तो याद नहीं आती है अब तो उसकी उम्र समझो तो सत्तर होने वाली है तो जब हम लोग आठ नौ बरस की उम्र में खालिद हुआ में पढ़ते थे तो